चनाचे कहने लगे क्या हम अपने जैसे दो आदमियों पर ईमान ले आए हालांकि उनकी कौम हमारी गुलामी कर रही है